देह दिनहु दिन दुबर हो ये जो बल मुख छवि सोये नित नव राम प्रेम पन पेना बढ़त धर्म दरो मनु न मनी जलु निघटत शरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समतम संयम नियम उपासा नखत भरत हिय का भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिला मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है ध्रुव बेश्वासो अवधेरा का स्वामी सुरती सुर लेथे विकासे राम प्रेम विधु अचल दोसा सहित समाज सोहनि तोखा परति र समुनि कर्तु भगति विरति गुण निर्मल विभूति वरणत सकल सुख बिसकुचाहे शेष गणेश गिरारा गमुना विश्वास ही उस आकाश में आ तारा है चौदह वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सब जाते हैं क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है नित पूजत प्रभु पावरे प्रीति न हृदय समाति मांगे मांगे आय सुकरत राज वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं को पूजन करते हैं हृदय में प्रेम समाता नहीं है पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं पुलक गात शेयर घुबेरो जेहना लखन राम सिया कानन बसहे भरतु भवन बसे भपतनु कसहि दो देशे समुझे कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन ले मैं साधु सकुचाहे देख दशा मुनि राजन जाहे शरीर पुलकित है हृदय में श्री सीता राम जी हैं जीव राम नाम जप रही है नेत्रों में प्रेम का जल भरा है लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं परम पुनीत भरतया चरेणु मधुर मञ्जु मोदय मङ्गलकरणल कठिन कले कलुष कलेसु महमोहनिशे दलन दिनेसु पाप जुन् जर मृगराजो समन सकल सन् तापसमजो जन जञ्जन भञ्जन राम रामसनेः सुधा भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है श्री राम प्रेम पेयोष पूरण होत जन मुन भरत को मुनि बन अगम जम नियम समदम विषम व्रत चरण को दुःखदाह दारिद दम्भदूषण सुजस मिषयपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहे सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस बिरती श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा इति इति श्रीमद् राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिल कलिकलकलुषविध्वंसिने द्वितीयः सोपानः समाप्तः कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ अयोध्या कांड समाप्त